बुद्ध को कोई गाली देता है तो वो कहते तुम जरा देर से आए थोड़े पहले आना था अब तो मुश्किल हो गई अब तुम मुझे क्रोधित न कर पाओगे और तुम तो मुझे बड़ी दया आती क्योंकि तुम खाली हाथ लौटोगे और तुम कितनी धारणाएं लेके आओ आए होगे कि अपमान करूंगा गाली दूंगा नीचा दिखाऊंगा और तुम असफल लौटोगे और मैं कुछ भी तुम्हें सहायता नहीं कर सकता तुम जरा देर से आए दस साल पहले आना था तब मैं भी क्रोधित होता तुमने गाली दी इससे बजनी गाली में तुम्हें देता तब मैं ना समझता तब जीवन ऊर्जा को मैं ऐसे ही फेंक रहा था ठीक ठीक पता नहीं था कि इससे क्या खरीदा जा सकता है जिस जीवन से तुम परमात्मा खरीद सकते हो उस जीवन से तुम क्या खरीद रहे हो उसे तुम क्षुद्र के साथ व्यर्थ ही खो रहे हो तुम गंवा रहे हो कमा नहीं रहे हो और बड़ी उल्टी दुनिया है संसारी जो गंवाते हैं लोग उन्हें समझते हैं कमा रहे हैं सन्यासी जो कमाते हैं लोग समझते हैं गंवा रहे हैं एक ही कमाई है कि तुम्हारा जीवन उस परम संगीत से भर जाए जिसका सारा साज सामान तुम्हारे भीतर मौजूद है जिसे तुम जन्म के साथ लेकर आए हो वो गीत तुम गाकर जाना एक ही कमाई है वो संगीत तुम बजा कर जाना एक ही कमाई है तब तुम हंसते हुए जाओगे तब तुम कहते हुए जाओगे कबीर के साथ कि जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद तब मृत्यु का स्वागत भी तुम नृत्य से करोगे अभी तुमने जीवन का स्वागत भी क्रोध से किया है लोभ से किया है क्षुद्रताओं से किया है बीमारियों से किया है ये दो आयाम है जो दृढ़ता से स्थापित है आसानी से डिगाया नहीं जा सकता तुम डिग जाते हो दूसरे को कसूर मत देना इतना ही समझना कि तुम दृढ़ता से स्थापित नहीं जब कोई गाली दे और तुम क्रोध से भर जाओ तब ये मत समझना कि दूसरे ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया इतना ही जानना कि तुम्हारा चरित्र दृढ़ता से स्थापित नहीं और इस आदमी को धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा है कि तूने बता दिया कि कितना गहरा हमारा चरित्र है हमें पता ही ना चलता अकेले रहते तो अकेले रहते तो हमें कैसे पता चलता कि हम दृढ़ता से स्थापित नहीं अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग घर द्वार छोड़कर हिमालय चले जाते हैं वो वहां समझने लगते हैं कि उनको चरित्र उपलब्ध हो गया क्योंकि वहां कोई हिलाने वाला नहीं और जब वापस लौटते हैं तत्क्षण हिल जाता है फिर डरने लगते हैं तुम्हारे पास आने से क्योंकि वो समझते हैं कि तुम उनके पतन का कारण हो तुम उनके पतन का कारण नहीं तुम केवल परीक्षा हो तुम्हारे पास आके कसौटी मिल जाती पहचान हो जाती कि कितना गहरा है एक सन्यासी तीस वर्षों तक हिमालय में रहा आश्वस्त हो गया कि सब ठीक न क्रोध न लोभ न मोह न काम शांत हो गया अब क्या डर रहा तो कुंभ का मेला था नीचे उतरा कि अब तो कोई भय नहीं संसार से मेले में आया किसी आदमी का पैर पर पैर पड़ गया भीड़ थी धक्कम धुक्का था पैर पर पैर पड़ गया एक क्षण में तीस साल हिमालय के खो गए एक क्षण न लगा तीस साल ऐसे पुछ गए जैसे पानी पे खींची लकीर मिट जाती उछक के गर्दन पकड़ ली उस आदमी को कहा कि तूने समझा क्या है अंधा है देख के नहीं चलता तब होश आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं पर वो सन्यासी ईमानदार आदमी रहा होगा वो वापस हिमालय न गया उसने कहा इस हिमालय का क्या मूल्य भीड़ में ही रहूंगा अब यही साधना है क्योंकि हिमालय में तीस साल साधा और भ्रांति पैदा हो गई कि सद गया और इधर भीड़ ने एक क्षण में मिटा दिया भीड़ का कोई कसूर नहीं कोई दृढ़ता के आधार न थे समाज में ही साधना भीड़ में ही साधना संसार में ही रहते हुए साधना क्योंकि जहां निरंतर कसौटी हो रही वहीं तुम जांच पाओगे कि दृढ़ता गहरी हो रही या नहीं जड़ें उपलब्ध हो रही या नहीं मत छोड़ना पत्नी को मत छोड़ना बच्चों को मत छोड़ना दुकान बाजार को जहां हो वहीं रहना और होश को संभालना तब तुम बड़े चकित होगे कि ये सारे मित्र परिजन परिजन दुश्मन भीड़ बाजार कोई भी तुम्हारे विरोधी नहीं सब तुम्हें सहारा दे रहे क्योंकि सभी तुम्हारी परीक्षा है और सभी तुम्हारी कसौटी है तब मरते वक्त तुम मित्रों को ही धन्यवाद न दोगे तुम अपने शत्रुओं को भी धन्यवाद दोगे क्योंकि उनके बिना भी तुम पा ना सकते थे जिसकी पकड़ पक्की है वो आसानी से छोड़ता नहीं तुम्हारी पकड़ तो छूट छूट जाती वो है ही नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पूर्वजों के त्याग अबाध रूप से जारी रहेंगे दो तरह की पूर्वजों की यात्रा है एक तुम्हारे पिता तुम्हारे पिता के पिता तुम्हारी शरीर की परंपरा और एक तुम्हारा ये जन्म और तुम्हारा पिछला जन्म और तुम्हारा पिछला जन्म तुम्हारी आत्मा की परंपरा तुम दो तरह की वसीयत लेके पैदा हुए हो दोनों वसीयत सनातन है क्योंकि तुम सदा से हो तुम्हारा शरीर सदा से है शरीर भी अपनी संपदा को संग्रहित करके चलता है और आत्मा भी अपनी संपदा को संग्रहित करके चलती है जो तुमने किया है अतीत जन्मों में उसकी हवा तुम्हारे साथ आज भी है क्योंकि तुम्हारा सारा अतीत सिमट आया है इस वर्तमान के क्षण में ऐसा मत सोचना कि अतीत नष्ट हो गया कुछ भी नष्ट नहीं होता इस वर्तमान में तुम्हारा सारा अतीत समाया हुआ है इसलिए तो हिंदू कर्म की बहुत बहुत धारणा और विचारणा करते हैं क्योंकि कर्म का अर्थ है तुमने जो किया है कभी वो सब समाया हुआ है आज तुम आज आज ही पैदा नहीं हुए हो तुम्हारा सारा अतीत आज के भीतर छिपा है न केवल तुम्हारा अकेला इस संबंध में लाओस से हिंदुओं से बड़ा भिन्न है और ज्यादा सही है हिंदू तो सिर्फ तुम्हारे अतीत की बात करते हैं लाओस से कहता है कि तुम्हारा अतीत तो समाया हुआ ही है तुम्हारे पूर्वजों का अतीत भी समाया हुआ है क्योंकि तुम जिनसे पैदा हुए हो जिनका कण तुम्हारा जीवन का आधार बना है जिनकी वीरी ऊर्जा ने तुम्हारे शरीर और मन को ढांचा दिया है वे भी तुम्हें छिपे वे भी तुम्हारे भीतर छिपे और तुम्हारे चरित्र में उन सब का प्रकटन होता है अगर तुम्हारी परंपरा पाखंड की ही रही हो तो वो पाखंड प्रकट होगा इसलिए तुम अकेले नहीं हो और तुम सिर्फ अपने लिए ही मत सोचना सारा अस्तित्व तुम्हारे पीछे गुथा है ताने बाने हैं जीवन के कोई व्यक्ति अकेला नहीं है और तुम जो भी कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं तुम्हारा कृत्य तुम्हारे पूरे अतीत की कथा भी कहेगा हिंदू कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक ऋण लेके चल रहा है पिता का ऋण माता का ऋण गुरु का ऋण क्या है वो ऋण वो ऋण यह है कि अगर तुम खिल गए वास्तविकता से तो तुम्हारे माता और पिता और तुम्हारी अनंत काल की परंपरा तुम में खिल के प्रफुल्लित होगी तुम जब तक न खिलोगे वे भी पूरी तरह न खिल पाएंगे क्योंकि वे तुम में समाविष्ट हैं उनका खिलना भी अधूरा अधूरा रहेगा इससे तुम कुछ बातें समझ पाओ क्योंकि प्रत्येक बात बहुत सी बातों से जुड़ी है अधिकतम बुद्ध पुरुष अविवाहित रहे और रहने का एक कारण यह है कि अगर तुम्हें परिपूर्ण बुद्धत्व पाना हो तो तुम्हारे बच्चे भी जब तक बुद्धत्व को प्राप्त न हो जाए तुम्हारी श्रृंखला अधूरी रहेगी क्योंकि जो मुझसे पैदा हो रहा है जब तक वो भी न पालेगा तब तक मैं अधूरा रहूंगा क्योंकि वो मेरी ही यात्रा है अधिक बुद्ध पुरुष अविवाहित रहे रहने का कारण बहुत है उनमें एक बुनियादी कारण यह है प्रसंग वसात तुमसे कहता हूं तुम जब तक मुक्त न हो जाओगे तुम्हारे पिता और पिता के पिता और पिता के पिता बंधे तुम्हारी मुक्ति उनकी मुक्ति भी बनेगी व्यक्ति अकेला नहीं है बटा हुआ नहीं है कटा हुआ नहीं हम सब एक बड़े ताने बाने के धागे बुद्ध ने तो इस बात को उसकी आखिरी चरम तार्किक निष्पत्ति तक पहुंचा दिया है कथा है कि बुद्ध जब स्वर्ग के मोक्ष के द्वार पर पहुंचे द्वार खुला स्वागत के लिए तैयार लेकिन बुद्ध पीठ करके खड़े हो गए द्वारपाल ने कहा आप भीतर आए बुद्ध ने कहा यह संभव नहीं जब तक अंतिम व्यक्ति मुक्त ना हो जाए तब तक मैं द्वार पर ही रुकूंगा ये तो कथा है लेकिन बहुत गहरे अर्थों में सही है क्योंकि अगर अस्तित्व इकट्ठा है तो एक व्यक्ति कैसे बुद्धत्व को प्राप्त होगा अगर हम सब जुड़े हैं और द्वीप की तरह अलग अलग नहीं महाद्वीप की तरह तो कैसे एक व्यक्ति मुक्त होगा एक की मुक्ति सबकी मुक्ति होगी एक अलग होता तो अलग मुक्त हो सकता था लाओस से कहता है कि तुम जिस दिन खिलोगे और तुम जिस दिन आधारित हो जाओगे केंद्र को पालोगे तुम्हारी जड़ें पहुंच जाएंगी स्वभाव में उस दिन तुम ही नहीं तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चल रही अबाध त्यागों की परंपरा अपनी पूर्णाहूत पर आएगी और तुम्हारे आधार पर आने वाला भविष्य एक नई सीढ़ी को पार कर लेगा व्यक्ति में उसके पालन से चरित्र प्रमाणिक होगा ताने बाने की पूरी कथा लाओ से कहता है cultivated in the individual character will become genuine जब कोई एक व्यक्ति अपने भीतर गहरा उतरता है और अपनी जड़ों से संबंध जोड़ लेता है और अपने स्वभाव के साथ एक रस हो जाता है जब किसी व्यक्ति का चरित्र उसके अंत से जगता है तो चरित्र प्रमाणित होता है ऑथेंटिक होता है नहीं तो पाखंड होता है अगर एक व्यक्ति भी प्रमाणिक चरित्र को उपलब्ध हो जाता है तो उसके आधार पर उसका परिवार प्रामाणिक चरित्र की तरफ बढ़ सकता है क्योंकि हम अलग अलग नहीं इससे विपरीत भी सही है अगर परिवार चरित्र को उपलब्ध हुआ हो तो उसके भीतर पैदा हुआ व्यक्ति दुष्चरित्रता की तरफ जाने में बड़ी कठिनाइयां पाएगा और चरित्र की तरफ जाने में बड़ी सुगमता पाएगा इस सत्य को अब पश्चिम में मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है एक दूसरे दिशा से पहले जब कोई आदमी पागल विक्षिप्त मानसिक रोग ग्रस्त हो जाता था तो हम उसका इलाज करते थे फिर धीरे धीरे मनोविज्ञानकों को समझ में आना शुरू हुआ कि इस व्यक्ति के इलाज से कुछ भी ना होगा जब तक इसका परिवार न बदले क्योंकि यह अनुभव में आया कि व्यक्ति को अगर अस्पताल में रखो वो ठीक हो जाता है घर भेज दो फिर महीने दो महीने में वापस बीमारी शुरू हो जाती तो निरंतर अध्ययन करने से पता चला कि व्यक्ति तो एक हिस्सा है परिवार का और जब तक पूरे परिवार में कोई गहरा रोग न हो मानसिक तब तक ये व्यक्ति रुग्ण नहीं हो सकता लेकिन पूरा परिवार सामान्य मालूम पड़ता है कोई पागल नहीं है दूसरा आदमी तब इस बात की खोज की गई कि यह कारण क्या है तो पता चला कि जैसे परिवार में अगर दस आदमी है तो जो सबसे ज्यादा कमजोर है वो सबसे पहले पूरे परिवार के पागलपन को प्रकट करने का आधार बन जाएगा जो सबसे ज्यादा कमजोर है जैसे ये मकान गिरे तो इसमें सबसे पहले वो खंबा गिरेगा जो सबसे ज्यादा कमजोर है परिवार इकट्ठा है उसमें एक व्यक्ति गिरेगा जो सबसे ज्यादा कमजोर है इसलिए अक्सर छोटे बच्चे पागल हो जाएंगे या पैदाइश से विक्षिप्त होंगे या पैदाइश से उनके मन में कुछ गड़बड़ होगी व्यक्तित्व में कुछ गड़बड़ होगी क्योंकि वो कमजोर है या स्त्रियों पर निकलेगा स्त्रियां पागल होंगी क्योंकि वो कमजोर है पुरुषों पर आते आते देर लगती पहले बच्चे पागल होते अगर बच्चे ना होते स्त्रियां पागल होती तब पुरुषों तक बात आती क्योंकि जो जितना कमजोर है उतना ही संभव है कि रोग उससे प्रकट हो तो अगर घर में एक आदमी पागल होता है पागल तो पूरा घर है वो एक आदमी तो सिर्फ शिकार है कमजोर होने के कारण वो सबसे कमजोर कड़ी है जो टूट जाती है और हम सब उसको जिम्मेदार ठहराते हैं और तुम्हें पता नहीं कि वो सिर्फ तुम्हारा निकास है अगर उस व्यक्ति को हटा लिया जाए तुम्हारे घर से सदा के लिए तो दूसरा व्यक्ति पागल होगा अब जो कमजोर होगा वो पागल होगा ये तथ्य बड़े वैज्ञानिक अध्ययन से जाहिर हुए तो पश्चिम में एक नई मनोचिकित्सा शुरू हुई वो है परिवार की चिकित्सा अकेले एक आदमी की चिकित्सा से कुछ ना होगा लेकिन ये बड़ी मुश्किल बात जब और थोड़ी खोजबीन की तो पता चला कि परिवार तो पूरे गांव का एक हिस्सा है ऑर्गेनिक जैसे व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा है ऐसा परिवार गांव का हिस्सा है तब तो झंझट बढ़ गई वो पूरे गांव में जो पागलपन है सबसे कमजोर परिवार से प्रकट हो रहा है तो ग्रुप थेरेपी पैदा हुई समूह की चिकित्सा करो लेकिन वो सफलता की तरफ जा नहीं सकते क्योंकि गांव पूरे राष्ट्र से जुड़ा जुड़ा है राष्ट्र पूरे संसार से जुड़ा है संसार पूरे विश्व से जुड़ा है इसका तो अर्थ ये हुआ कि जब तक पूरी विश्व सत्ता शुद्ध ना हो स्वस्थ ना हो तब तक हम आशा नहीं बांध सकते एक एक व्यक्ति को ठीक करके भी कुछ होगा ना कहीं और से बीमारी निकलने लगेगी समग्र स्वस्थ होना चाहिए इस समग्र की स्वस्थता की खोज ही धर्म है एक एक की चिकित्सा से हल नहीं होने वाला अगर हम अलग अलग होते तो हल हो जाता इसलिए तुम जब रास्ते पर किसी को पागल देखो तो ये मत सोचना कि तुम सौभाग्यशाली हो ये दुर्भाग्यशाली तुम उसे धन्यवाद देना क्योंकि तुम्हारा पागलपन वो प्रकट कर रहा है हर गांव में एक आध दो पगलों की जरूरत है छोटे से छोटे गांव में हर गांव का पागल होता है और वो पागल पूरे गांव के पागलपन का निकास द्वार है जैसे घर में एक नाली होती जिससे कचरा कूरा सब निकल जाता है ठीक ऐसे हो वो पागल तुम्हें स्वस्थ रख रहा है तुम उसको धन्यवाद देना और तुम उसके अनुग्रहित रहना क्योंकि अगर वो पागल मर जाए तो दूसरे आदमी को पागल होना पड़ेगा एक नाली टूट जाए तो दूसरी बनानी पड़ेगी क्योंकि घर का कचरा तो बहना ही है कचरा है समग्र का स्वास्थ्य तलाश से कहता है चरित्र जब व्यक्ति में पालन किया जाता है वास्तविक चरित्र जो स्वभाव से उठता है तो चरित्र प्रमाणिक होता है परिवार में उसके पालन से चरित्र अतिशय होता है अबंडेंट क्योंकि एक व्यक्ति अगर चरित्र का पालन भी करे और घर भर के लोग पाखंडी हो तो एक तो उसे चरित्र के पालन में बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि सारा घर उसके विरोध में होगा ऊपर ऊपर भला प्रशंसा करे लेकिन भीतर विरोध में होगा इसलिए तुम जान के हैरान होगे कि ज्ञानियों के घरों में ज्ञानियों का बड़ा विरोध रहा है जीसस ने कहा है कि पैगंबर को उसके गांव में कोई पूजा नहीं मिलती ऐसा हुआ कि जीसस ने बड़े चमत्कार किए जहां वो गए चमत्कार हुए व्यक्तित्व उनका वैसा था लेकिन जब वो अपने गांव आए तो कुछ भी ना कर सके तो बाइबल में इस बात का उल्लेख है कि उनके शिष्य बड़े चकित हुए कि आप दूर दूर इतना चमत्कार किए हजारों लोग प्रभावित हुए गांव में कोई भी प्रभावित नहीं हो रहा आपसे तो उन्होंने कहा गांव में पैगंबर की पूजा नहीं होती और गांव में लोग समझते हैं कि ये जीसस वो जोसेफ बढ़ी का लड़का है इसका दिमाग कुछ खराब है अनाप शनाप बातें करता है किसी को गांव में आस्था नहीं है आस्था नहीं तो चमत्कार असंभव है क्योंकि चमत्कार पैगंबर से नहीं होता आस्था से होता है फिर जीसस दोबारा उस गांव नहीं गए क्योंकि उस गांव का परिणाम उनके शिष्यों पर भी बुरा पड़ता था ये देख के कि अपने गांव में क्योंकि शिष्य बड़ी अपेक्षा रखते थे पैगंबर अपने ही गांव में बड़ी मुश्किल में पड़ता है और अपने ही परिवार में तो और भी मुश्किल में पड़ जाता है पूरा परिवार कितनी ही बातें करे लेकिन भीतर एक विरोध होता है क्योंकि परिवार भरोसे नहीं कर सकता कि हमारे बीच और ऐसा आदमी पैदा हो जाए और हम इतने छोटे रह जाएं और ये आदमी इतना आगे चले जाए वो अनजाने मार्गों से उसे नीचे खींच के अपनी सतह पर लाना चाहते इसलिए जब कोई एक व्यक्ति चरित्र की तरफ जाता है और परिवार नहीं जाता तो वो धारा के विपरीत उसे बहना पड़ता है उसमें उसकी शक्ति बड़ी व्यय होती और चरित्र उसका हो भी जाए तो भी अतिशय न होगा वो एक ऐसा वृक्ष होगा जो बामुश्किल जिंदा है किसी तरह पानी प्राप्त कर रहा है फूल खिलेंगे भी तो अध खिले होंगे क्योंकि सब तरफ विरोध है हवाओं में विरोध है सूरज की किरणों में विरोध है जमीन में विरोध है लाओस से कहता है परिवार में उसका पालन हो तो चरित्र अति से होगा तब प्रगाढ़ता से होगा बड़ी समृद्धि होगी और तब उस धारा में कोई भी बह सकेगा गांव में उसके पालन से चरित्र बहुगुणित होगा और अगर पूरा गांव पाखंडी न हो और लोग स्वभाव में स्थिर हो तो हजार हजार गुना हो जाएगा जरा सा करो और बहुत हो जाएगा एक कदम चलो और हजार कदम हो जाएंगे शुभ भी भूमि चाहता है सत्य भी भूमि चाहता है राज्य में उसके पालन से चरित्र महान समृद्धि को उपलब्ध होगा संसार में उसके पालन से चरित्र सार्वभौम होगा इसलिए तो यह होता है कि कभी कभी एक प्रगाढ़ धारा उठती है और एक श्रृंखलाबद्ध ज्ञानियों का जन्म होता है जैसा बुद्ध के समय में हुआ क्योंकि एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी के लिए सहारा बन जाता है दूसरा ज्ञानी तीसरे के लिए सहारा बन जाता है हवा भर जाती है एक नई उत्तेजना और गरिमा से और उस गरिमा में लोग सहजता से बह जाते बुद्ध हुए उसी वक्त जरथुस हुआ उसी वक्त हेराक्लाइतस हुआ उसी वक्त लाओस से हुआ उसी वक्त महावीर हुए उसी वक्त चौंत से हुआ सारे जगत में एक प्रगाढ़ लहर उठी और उस लहर में हजारों लोग पार हो गए ये लोग और किसी समय में शायद पार ना हो पाते इसलिए जब हिंदू कहते हैं कि पंचम काल में या कलयुग में बुद्धत्व को उपलब्ध होना कठिन है तो उसका कारण कठिन इसीलिए है कि परिवार झूठा गांव झूठा राज्य झूठा समाज झूठा सारी दुनिया झूठी इस पाखंड के बीच जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो तो उसे बड़ी धारा के विपरीत बहना पड़ेगा उसकी सारी शक्ति तो धारा के विपरीत बहने में लग जाएगी इसलिए कठिन और समय में कोई कठिनाई नहीं लेकिन ठीक फिर वो घड़ी आ रही जिस समय बार बार तुमसे कहा हूं कि हर 2500 वर्ष में मनुष्य जाति का इतिहास एक वर्तुल पूरा करता है बुद्ध के 2500 वर्ष पहले कृष्ण पतंजलि बुद्ध के समय में बड़े ज्ञानियों की श्रृंखला फिर 2500 वर्ष पूरे होने के करीब आ गए इन आने वाले 20-25 वर्षों में दुनिया में बड़ा प्रगाढ़ वेग उठेगा और तुम उस वेग को चूक मत जाना क्योंकि वो चूक जाने पर फिर बहुत कठिनाई है फिर साथ तुम 2500 साल प्रतीक्षा करोगे तब दोबारा उस वेग का घड़ी आएगी ऐसे ही जैसे कि जब हवा बह रही हो पूरब की दिशा में तुम नाव को खोल दो तो बिना पतवार उठाए नाव पूरब की तरफ बहने लगती और जब हवा पश्चिम की तरफ बह रही हो तब तुम्हें पूरब जाना हो तो तुम्हें बड़ा श्रम उठाना पड़ता है पहुंच भी जाओ तो बिल्कुल थके हुए पहुंचोगे फिर एक घड़ी आ रही है उत्तंग लहर उठ रही है सारी दुनिया में बड़ी नई चहल पहल है अंतकरण में लोग सत्य के संबंध में परमात्मा के संबंध में पुनर्विचार कर रहे हैं जैसे रात करीब है टूटने के और सुबह होने के पास आ रही इस क्षण को तुम मत खो देना इस क्षण का अगर तुम ठीक उपयोग कर लोगे तो तुम्हें सिर्फ बह जाना लहर ले जाएगी ये क्षण खो गया तो फिर तुम्हें तैरना होगा फिर लहर ना ले जाएगी इसलिए जब भी ये क्षण आता है तब ऐसे ज्ञानी पैदा होते हैं जो कहते हैं लेट को छोड़ दो जलीय लहर नहीं होती बीच के 2500 वर्षों में ऐसे ज्ञानी आते हैं जो कहते हैं बड़ा श्रम करना पड़ेगा अगर तुम बीच के 2500 वर्षों में पड़ जाओ तो पतंजलि रास्ता है अगर तुम 2500 वर्ष के, के किनारे पड़ जाओ तो लाओस से रास्ता है इसलिए मैं तुमसे निरंतर कह रहा हूं कि प्रयास का बड़ा सवाल नहीं समर्पण की बात है संकल्प की कोई जरूरत नहीं तुम छोड़ दो अभी तैयार हो रही लहर और जल्दी ही ये किनारा छोड़ देगी लहर तुम अगर छोड़ने को तैयार हो गए तो बह जाओगे सुगम है अभी इसलिए दो धाराएं हैं धर्मों की एक धारा है जो मध्य के काल में पैदा होती है पच्चीस वर्ष के बीच में वो धारा सदा जोर देती श्रम संकल्प योग हठ दूसरी धारा है धर्म की जो पच्चीस साल पूरे होने पर पैदा होती जेन लाओस से छोड़ दो तुम्हें कुछ करना नहीं है तुम्हें कोई श्रम नहीं करना है तुम्हें सिर्फ बह जाना है ऐसी घड़ियों में सारा अस्तित्व तुम्हें साथ देता है एक वर्तुल पूरा होने के करीब होता है मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इतने लोगों को सन्यासी बना रहे सन्यासी बनना तो बड़ा कठिन वो ठीक कहते हैं ऐसी घड़ी होती है जब सन्यासी बनना अति कठिन है एक ऐसी घड़ी करीब आ रही जब सन्यासी बनना अति सरल और संसारी बनना अति कठिन है बस तुम राजी भर हो कि घटना घट सकती है ये ऐसे ही जैसे सुबह तुम आंख खोलो सब तरफ रोशनी है सब दिखाई पड़ता है और आधी रात में आंख खोलो आंख भी खोलो तो क्या होता है अंधेरा है रात के क्षण होते हैं और दिन के क्षण होते हैं पच्चीस साल रात चलती बीच में थोड़े से समय के लिए अस्तित्व शिथिल होता है चीजें विश्राम को उपलब्ध होती उस क्षण का जो उपयोग जान लेता है वो द्वार से प्रवेश कर गया अन्यथा फिर दीवाल में सेंध मारनी पड़ती उसमें बड़ा श्रम है व्यक्ति के इसलिए व्यक्ति के चरित्र के अनुसार व्यक्ति को परखो लाउस से कहता है कि धारणाओं से नहीं पहले से पूर्व निर्धारित विचारों से नहीं व्यक्ति के चरित्र के अनुसार व्यक्ति को परखो तुम इससे ठीक उल्टा करते हो किसी ने कहा कि आदमी मुसलमान है और तुम हिंदू तुमने बस मुसलमान सुनते समान लिया कि आदमी बुरा है मुसलमान और अच्छा हो सकता तुम व्यक्ति का चरित्र नहीं परखते तुम्हारी पूर्व धारणा है उस पूर्व धारणा से तुम तय करके चलते हो यह गलत है एक एक व्यक्ति को सीधा सीधा परखो हिंदू मुसलमान जैन ईसाई में मत बांटो व्यक्ति सीधा देखो क्योंकि जब तुम व्यक्ति को सीधा देखोगे तब तुम अपने को भी सीधा देखने में समर्थ हो पाओगे और पूर्व निर्धारित धारणाओं में किसी को मत ढालो क्योंकि कल जो आदमी बेईमान था आज ईमानदार हो गया होगा तुम कल की धारणा मत खींचो कल जो तुम्हें गाली दे गया था वो आज फिर आ रहा है तुम देख के लकड़ी लेके खड़े मत हो जाओ क्योंकि हो सकता है वो क्षमा मांगने आ रहा हो तुम कल को जाने दो तुम आज ही देखो सीधा सब बदलता है तो आदमी की चेतना क्यों ना बदलेगी पापी पुण्यात्मा हो जाते असाधु साधु हो जाते जो दूर थे वे पास आ जाते हैं जो पास थे वे दूर हो जाते हैं ये बदलाहट रोज होती है इसलिए तुम पूर्व धारणाओं को मत बनाओ तुम सदा तथ्य को सीधा देखो आज जो हो उसे देखो कल को बीच में मत लाओ व्यक्ति के चरित्र के अनुसार व्यक्ति को परखो परिवार के चरित्र के अनुसार परिवार को परखो गांव के चरित्र के अनुसार गांव को परखो क्योंकि होता क्या है परिवार की भी धारणा होती है ख्याल होता है कि फला परिवार कुलीन है तो उसमें जो पैदा होगा वो कुलीन होगा फला परिवार बुरा है यहूदी जीसस को स्वीकार न कर पाए क्योंकि जीसस का जो गांव था बैथलहम ऐसी धारणा थी वहां कि बैथलहम में कभी कोई ज्ञानी हुआ हुआ भी नहीं था पहले तो लोग जीसस से सवाल पूछते थे कि बैथलहम में कभी कोई ज्ञानी हुआ जो तुम हो गए बैथलहम की वैसी दशा थी जैसे हिंदुस्तान में भी कुछ गांव जैसे पंजाब में होशियारपुर होशियारपुर में लोगों की धारणा है कि सिर्फ गधे रहते और इसलिए उन्होंने नाम होशियारपुर रख लिया अच्छे पाने के लिए अगर कोई आदमी होशियारपुर रहता है और तुम उससे पूछो कहां रहते हो तो वो झगड़े पोतारू हो जाता वो कहता क्या मतलब आपका पूछने से क्या चाहते हैं आपको क्या जरूरत कहीं रहते हो वो सीधा नहीं बताता कि होशियारपुर रहता है क्योंकि जैसे उसने कहा कि होशियारपुर रहता है कि आपने धारणा बना ली थी ऐसा कथा है कि अकबर के जमाने में होशियारपुर के लोगों ने प्रार्थना की अकबर को कि हम नाहक बदनाम और हम बड़े लज्जित होते हैं कि जहां भी बता नहीं सकते कि कहां रहते क्योंकि जिसको हमने बताया होशियारपुर रहते हैं बस वो मुस्कुराने लगता है तो आप जांच पड़ताल करवाएं और ये भ्रांति तोड़वाएं अकबर ने कहा कि बात ठीक है सुना तो मैंने भी वो भी सुनकर होशियारपुर मुस्कुराने लगा उसने कमीशन एक आयोग बिठाया सात आदमी भेजे विचारशील आदमी कि तुम जाके पता लगाओ कुछ दिन रहो वहां जांच पड़ताल करो कि ये बात कहां तक सच होशियारपुर के लोगों ने बड़ी तैयारी की क्योंकि तैयारी करनी जरूरी थी कि कमीशन का आखिरी फैसला एक दफा अकबर कह दे तो मामला ठीक हो जाए तो उन्होंने रत्ती भर भूल चूक न की ऐसा स्वागत किया कि वो लोग भी दंग हो गए बहुत ज्यादा जब कोई सावधानी से करे जब कोई अति से सावधानी से करे तो अति से सावधानी भी चिंता बन जाती सब ठीक गया सब ठीक गुजर गया तीसरे दिन आयोग बड़ा प्रसन्न और विचार करके कि नहीं ये बात गलत है लोग नाहक इनको बदनाम करते वापस लौटा गांव के बाहर दूर तक होशियारपुर के लोग पहुंचाने आए जब कमीशन विदा हो गया बड़ा तृप्त सब लोग गांव वापस लौटे और उन्होंने कहा भाई कोई भूल चूक तो नहीं हुई अभी कुछ नहीं बिगड़ा है अभी कमीशन पास ही है अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफी मांग ले तब रसोई ने बताया कि मैं जीरा डालना भूल गया सब्जी में कहीं ऐसा ना हो कि वो समझे कि ये गधे जीरा नहीं खाना नहीं जानते लोग कहते हैं ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद तो उन्होंने कही तो भारी भूल हो गई जीरा भूल गए क्या करना गांव भर से जितना जीरा था गाड़ियों में भर के घोड़ों पर लात के भागे एकदम जाके बीच बड़ी चीख फुर मचाई रुको रुको आप ये मत समझना कि हमें जीरे का स्वाद नहीं कतारें गाड़ियों की बंधी घोड़ों पर गधों पर जीरा लदा कि आप देख लो वो कमीशन बिल्कुल तय कर दिया था कि ठीक उसने कहीं गड़बड़ी है ये ये हैं गधे इसमें किसी का कोई कसू नहीं भी जीरा लाने की इतनी क्या जरूरत थी अति से कभी भूल हो जाती ऐसा हम के संबंध में ख्याल था लोगों का कि बैथलहम में कभी कोई ज्ञानी हुआ तो जीसस से जगह जगह लोग पूछते हैं अच्छा आप बैथलहम में पैदा हुए बैथलहम में कभी कोई ज्ञानी पैदा हुआ जो आप हो गए ज्ञानी का न तो गांव से कुछ लेना है न परिवार से कुछ लेना है जैनों की कथा है और कथा का कारण है क्योंकि जैनों के तेईस तीर्थंकर छत्रियों के घर में पैदा हुए तो जैनियों की धारणा है कि तीर्थंकर छत्री के घर में ही पैदा होता है तो बड़ी मीठी कथा है ना समझी की भी है मीठी भी है और आदमी के मन को समझने के लिए उपयोगी है महावीर एक ब्राह्मणी की कोख में आए तो कहते हैं बड़ी मुसीबत बड़ा तहलका मच गया देवताओं कि ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा कहीं कोई तीर्थंकर ब्राह्मण के घर में कभी पैदा हुआ और जैनी तो ब्राह्मण के विरोधी है और ब्राह्मण के घर में तीर्थंकर पैदा हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाए छत्री के घर में पैदा होता है तीर्थंकर सदा से ऐसा हुआ है तो कहानी है कि देवता बड़े बेचैन हुए फिर कोई उपाय ना देखकर उन्होंने एक बड़ी सर्जरी की गर्भ को ब्राह्मणी की कोख से निकाला और राजा की पत्नी की कोख में जाके रखा और उसकी कोख में जो लड़की थी उसको निकाला और उसको जाके ब्राह्मण के गर्भ में रखा फिर तृप्ति शांति हुई क्योंकि फिर महावीर छत्री के घर पैदा हो सके अब ये कहानी जिन्होंने गढ़ी है वो ब्राह्मणों के अपमान के लिए गढ़ी है कहीं ब्राह्मणों के घर में कोई तीर्थंकर हुआ ब्राह्मण यानी भिकमंगे इनके घर में कभी कोई तीर्थंकर हुआ है कोई ज्ञानी कभी हुआ है इनके घर पंडित पुरोहित भीख मांगने वाले लोग इनका क्या बल है कि तीर्थंकर को पैदा करें भूल चूक हो गई तो उसे ठीक कर लेना जरूरी हो गया न तो कुल से कुछ लेना देना है न गांव से कुछ लेना देना है इस तरह मत सोचना है सीधा देखना व्यक्ति को सीधा देखना परिवार को सीधा देखना गांव को सीधा देखना पूर्व धारणाएं मत रखना राज्य के चरित्र के अनुसार राज्य को परखो मगर कोई परखता नहीं हम परखते अब धारणाओं के अनुसार तुमने कभी ख्याल किया हिंदुस्तान और चीन की दोस्ती थी तो हिंदी चीनी भाई भाई चाउन लाई और नेहरू दोनों दोहराते थे और सारा बड़ा सब ठीक था फिर दुश्मनी हो गई फिर चीन राक्षसों का देश हो गया फिर हिंदुस्तानी नेता चिल्लाने लगे कि तो राक्षस तो दानव है तो बड़े भ्रष्ट एक घड़ी पहले भाई भाई थे और चीनी नेता वहां चिल्लाने लगे कि भारतीयों को तो नष्ट करनी पड़ेगा यही तो पूंजीवाद की जड़ है एशिया में इनको मिटाना पड़ेगा ये महारोग एक क्षण में सब बदल जाता है और सारा मुल्क दोहराने लगता है और कभी तुम सोचते भी नहीं कि पूरे मुल्क को दानव कहना ना समझी है दोस्ती झगड़ा एक बात है बनती बिगड़ती है लेकिन यह अति से पैदा हो जाता है तत्म जो आदमी कल तक मित्र था उससे अच्छा आदमी नहीं था आज वो शत्रु हो गया उससे बुरा आदमी नहीं एक दिन में ये हो कैसे गया जो स्त्री कल तक बड़ी सुंदर मालूम पड़ती थी आज बनाव बिगड़ गया बस वो कुरूप हो गई अब उससे ज्यादा डायन इस दुनिया में कोई है ही नहीं पूरे समूह पूरे राष्ट्र इस तरह जीते और पूरे राष्ट्र को तुम छापा लगा देते हो ये बुरा या अच्छा सीधे सीधे देखना ये धारणाओं का जाल उचित नहीं है इससे तुम्हारी आंखें धुएं से भर जाएंगी और तुम कभी सीधे देखने में समर्थ ना हो पाओगे दुश्मन भी अच्छा हो सकता है जरूरी नहीं है कि रावण राक्षस रहा हो वो राम के मानने वालों की धारणा है और अब अगर उन्होंने राम के पुतले जला दिए दक्षिण में तो बड़ी बेचैनी फैलती और तुम पुतले जलाते रहे रावण के और अभी भी जलाओगे और जरा भी बेचैनी नहीं फैलती रावण राक्षस रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है राक्षस कोई भी नहीं दुश्मन हमेशा राक्षस मालूम होता है मित्र अच्छे मालूम पड़ते हैं शत्रु राक्षस मालूम होता है तो तुम फिर विकराल मूर्तियां रावण की बनाते हो जरूरी नहीं है कि विकराल रहा हो संभावना तो बहुत है कि बहुत सुंदर आदमी रहा हो क्योंकि डर ऐसा है और शक्तिशाली आदमी था डर ऐसा था राम के भक्तों को मित्रों को कि अगर रावण स्वयंवर में मौजूद रहा तो वो शिव का धनुष तोड़ देगा वो शिव का भक्त भी था और भक्ति उसकी अपरसीम थी कथा है कि अपनी गर्दन चढ़ा देता था वही तो भक्ति है जब तुम अपना सिर रख दो तो डर था कि वो शिव का भक्त है और धनुष भी शिव का है तोड़ दे सकता है और बलशाली था और सुंदर था समृद्धशाली था प्रतापी था बड़ा राज्य था स्वर्ण की उसकी लंका थी डर था इसलिए एक षड्यंत्र रचा गया और एन वक्त पर जब स्वयंवर रचा था तब उसको झूठी खबर दी गई कि लंका में आग लग गई वो खबर झूठी थी लेकिन लंका में आग लग गई है इसलिए वो भागा हुआ लंका गया इस बीच स्वयंवर हो गया राम ने धनुष तोड़ दिया सीता ब्याह के चली गई यही सारी उपद्रव की बात शुरू हुई सीता का चुराना सिर्फ प्रत्युत्तर है और राम बुरा आदमी नहीं था क्योंकि सीता को ले जाके भी कोई दुराचरण नहीं किया सीता को सुरक्षित रखा सीता के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं की राम ने जितनी जबरदस्ती सीता पे की उतनी रावण ने नहीं की क्योंकि कथा बड़ी अजीब है जब रावण हार गया और सीता को राम वापस ले आए तो वाल्मीकि में जो शब्द हैं वो बड़े दुखद क्योंकि राम ने सीता से कहा कि तू ये मत समझना कि युद्ध हमने तेरे लिए किया ये युद्ध तो परंपरा के लिए वंश की प्रतिष्ठा के लिए ये शब्द अभद्र है और फिर एक धोबी के कहने पर सीता को जंगल में फेंक दिया गर्भिणी को जंगल में छोड़ दिया बिना चिंता किए फिर भी राम के भक्त को यह कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा रावण की सब बुराई दिखाई पड़ेगी राम की सब भलाई दिखाई पड़ेगी अब दक्षिण में रावण के भक्त पैदा हो रहे हैं उनको रावण की सब भलाई दिखाई पड़ती है राम की सब बुराई दिखाई पड़ती है आंख साफ होनी चाहिए और सीधा देखना चाहिए भलाई राम में भी है और बुराई रावण में भी है बुराई राम में भी है भलाई रावण में भी है असल में इस पृथ्वी पर कोई पूर्ण नहीं हो सकता जो पूर्ण हो जाते हैं वो तिरोहित हो जाते हैं इस पृथ्वी पर कोई आदमी इतना कर सकता है कि निन्यानवे प्रतिशत भला हो जाए लेकिन एक प्रतिशत बुराई बची ही रहेगी नहीं तो इस जमीन से संबंध ही टूट जाता है बुराई ही तो बांधती है और इस दुनिया में कोई आदमी चाहे तो निन्यानवे प्रतिशत बुरा हो सकता है लेकिन एक प्रतिशत भलाई बची रहेगी न तो सौ प्रतिशत बुरा आदमी मिलता है कहीं न सौ प्रतिशत भला आदमी मिलता है कहीं पुण्यात्मा में छोटा छोटा सा पापी छिपा रहता है पापी में छोटा सा पुण्यात्मा छिपा रहता है तभी तो वे बदलाहट की संभावना नहीं तो बदलाहट की संभावना भी खो जाएगी न तो कोई रावण और न कोई देव है सब मिश्रित है और तुम सीधा देखना और अपनी धारणा को बना के मत देखना जैसे ही तुमने धारणा बना ली वैसे ही तुम्हारी आंखें अंधी हो गई धारणा अंधापन है संसार के चरित्र के अनुसार संसार को परखो मैं कैसे जानता हूं कि संसार ऐसा है इस परख के द्वारा कि मैं सीधे देखता हूं मेरा कोई लगाव नहीं मेरा कोई पक्ष विपक्ष नहीं ध्यान रखना पक्ष विपक्ष बुद्धि के खेल है निष्पक्ष जब तुम देखोगे तभी तुम्हारा हृदय देखने में समर्थ हो पाएगा तुम पक्ष विपक्ष में खड़े ही मत होना तुम सीधे सीधे देखना तुम आंख को दर्पण बना के देखना तुम्हारी आंख देखने में कुछ भी न जोड़े जो तुम्हारे सामने हो उसी को देखना अगर तुम्हें राम में भी बुराई दिखाई पड़े तो देखना अगर रावण में भी भलाई दिखाई पड़े तो देखना तुम ये मत कहना कि रावण है इसमें भलाई कैसे हो सकती ये तुम मत कहना कि राम है इनमें बुराई कैसे हो सकती है अगर तुमने ऐसी धारणाएं रखी तो तुम अंधे हो तब तुम न तो चरित्र को देख पाओगे और न चरित्र को उपलब्ध कर पाओगे निष्पक्ष होकर देखना मुश्किल है निष्पक्ष आदमी खोजना क्योंकि निष्पक्ष आदमी अगर हो तो कोई भी उसके पक्ष में ना होगा वो इतना सीधा देखेगा कि न तो वो तुम्हारे राम को राम कहेगा और न तुम्हारे रावण को रावण कहेगा रावण के मानने वाले उस पर नाराज होंगे कि तुम रावण में कुछ बुराई देखते हो राम के मानने वाले नाराज होंगे कि तुम राम में कुछ बुराई देखते हो सब अंधे उससे नाराज होंगे आंख वाला अंधों के बीच में पड़ जाए तो सभी नाराज होंगे और अंधे पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी आंखों में कुछ गड़बड़ है क्योंकि हम सब जैसा देखते हैं तुम क्यों नहीं देखते अंधे कोशिश करेंगे कि तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन कर दिया जाए तब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे एक गांव में ऐसा हुआ एक जादूगर ने कुएं में मंत्र फेंक दिया और कहा कि अब जो भी इसका पानी पिएगा पागल हो जाए सारे गांव ने पानी पिया एक ही कुआ था गांव में एक और कुआ था लेकिन वो राजा के महल में था राजा बड़ा प्रसन्न हुआ वजीर बड़े प्रसन्न हुए कि कम से कम हमारा अलग कुआ है तो वजीर और राजा तो पागल नहीं हुए पूरा गांव पागल हो गया लेकिन शाम तक बड़ा तनाव फैलने लगा क्योंकि राजा के पहरेदार सिपाही सैनिक सब पागल हो गए और गांव में एक अफवाह उड़ने लगी कि मालूम होता है राजा पागल हो गए शाम होते होते गांव में आंदोलन तैयार हो गए लोग भीड़ लगा के राजमहल के चारों तरफ इकट्ठा हो गए और उन सब ने चिल्ला के कहा कि ये राजा पागल हो गया हम राजा को बदलना चाहते हैं राजा छत पे आया उसने वजीर से पूछा आप क्या करना उसने कहा एक ही रास्ता है कि हम भी उसी कुएं का पानी पी लें अब ये सब पागल हो गए मगर अब इनको कौन समझा है और ये सभी सहमत अब हम इन्हें पागल दिखाई पड़ रहे हैं हालांकि हमें पता है कि हम पागल नहीं लेकिन इससे अब कुछ होगा नहीं अब देर ना करें वजीर ने राजा से कहा कि आप लोगों को समझा के रोकें थोड़ी देर में पानी ले आता हूं भागा हुआ वो गया कुएं से पानी भर लाया दोनों ने पानी पिया दोनों पागल हो गए गांव उस रात भर उत्सव मनाता रहा कि हमारे राजा और वजीर की बुद्धि ठीक हो गई धन्यवाद परमात्मा का तुम जिस बस्ती में हो वो पागलों की है पाखंडियों की है तुम जिनके बीच हो उनके बीच शुद्ध आंख को पैदा करने में बड़ी कठिनाई होगी लेकिन वो कठिनाई गुजरने जैसी है शुद्ध आंख पैदा कर लो क्योंकि उसके बिना परमात्मा को देखने का कोई उपाय नहीं सत्य को निष्पक्ष आंख ही देख सकती है पक्षपात सभी असत्य आज इतना ही